गजाननभूतगणाधिसेवितम् कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा मलांगम सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् न मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं शरण प्रपत्ति यस्य प्रसादातहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्यां घृपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय gracias. Eh, eh, चंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान के लक्ष्यों का स्मरण है इसके अंदर मूल प्रार्थना का स्वरूप है हम लोगों की समस्या क्या है उसका भी संकेत है बहुत ही सुंदर है और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको हनुमान चालीसा जैसे इस अमर ग्रंथ का इसका श्री गणेश करवाया इसी का जो है उन्होंने प्रारंभिक पाठ सबको करवाया है हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि यहां पर जो दूसरे दोहे में जो मूल चीज हम लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए वो ये है कि बल बुद्धि विद्या देव मोही हर कले समिका इतना सुंदर वाक्य है कि गांठ बांध के अपने हृदय में रखने योग्य है भगवान से किसी विवेकी भक्त को इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए हम लोग के जीवन में कष्ट तो अनेकानेक होते हैं आध्यात्मिक होते हैं अपने जीवन अपने ही व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं रोग होते हैं अनेकों समस्याएं होती हैं आदि दैविक होते हैं रिश्ते नातों से परिवार से परिवेश से जुड़े रहते हैं और आदि दैविक समस्याएं होती हैं हर व्यक्ति को होती है जो हम लोग ग्रह नक्षत्रों से दैवी प्रकोपों के बारे में अनेकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक समस्याएं तीन स्रोत हैं भिन्न भिन्न प्रकार की मुसीबतें जीवन में आती रहती है लेकिन हनुमान चालीसा हमको सिखाती है कि तुम कब तक लिस्ट बनाओगे भगवान ये भी समस्या वो भी समस्या वो भी समस्या है केवल ये तीन चीज मांगो तुम्हारा सब निकल जाए बल बुद्धि विद्या देव भगवान हम कमजोर हैं इसीलिए ये सब चीजें भारी पड़ जाती है हमारे अंदर बुद्धि बहुत विचारशीलता नहीं है इसीलिए हम मार, मार खा जाते हैं हमारे अंदर ज्ञान नहीं है सही गलत का इसलिए हमको समस्या है और कोई समस्या नहीं है गाड़ी जा रही है खराब हो गई अब हमारे जैसा कोई अज्ञानी आदमी जिसको पता ही नहीं बोनेट के नीचे क्या होता है वो किस्मत को रोता है अरे क्या महाराज जी किस्मत जो थोड़ा जानता है बोलते क्या यार किस्मत किस्मत ना बोनेट खोलो यहाँ ठोको वहाँ ठोको ये प्लग साफ करो वो कार्बोरेटर साफ करो किक मारो जल्दी गाड़ी हमारा अज्ञान होता है जो राई का पहाड़ बना देता है तो हमको क्या चीज मांगनी चाहिए कि भगवान हम ऐसी गाड़ी खरीदें जो कभी खराबी ना हो या ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले भगवान कोई भी क्यों ना हो निपटने का हमको ज्ञान मिल जाए बोलो सियावर रामचंद्र की जय यही चीज मांगनी चाहिए भगवान बलवान करिए हमारे हृदय में हनुमान जी बैठे फिर भले लंका में क्यों ना चले जाए लंका के दुर्ग में क्यों ना चले जाए वहां पर भी जो बलवान है रावण भी पूछता है यार किससे बल मिला तुमको इतने बुद्धिमान और इतने बलवान तुमको डर नहीं लगता है हमको देख के हम्म, केवल शारीरिक बल नहीं था कि पत्थर उठा उठा के भेज लेते पेड़ को घुमा देते उखाड़ लेते लेकिन असली बल आदमी का ज्ञान का होता है कैसी भी समस्या आ जाए जो आदमी हारे नहीं लेकिन विचार से रास्ता निकाल लेता है ये बुद्धि का बल होता है आत्मबल होता है जिसके अंदर आत्मबल होता है उपनिषदों में कहा जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है भैया दुनिया में तो तुम समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि कर ही लोगे लेकिन नायम आत्मा बलहीन न लभ्य जब तक कोई बलहीन अगर होता है अंदर कमजोर होता है थोड़ी मुसीबत आ जाए भगवान क्या होगा क्या होगा बोलते हैं यार भगवान भगवान छोड़ो तुम परिवार चला लो तो बड़ी भारी कृपा होगी हाँ, ये बात है ये आलम है इसीलिए बाकी कोई चिंता मत करो इस बात को समझ जाओ अच्छी तरीके से कि हमारे अंदर बल बुद्धि विद्या की कमी से जीवन भारी पड़ जाता है अच्छा क्यों हमारे अंदर कमजोरी होती है क्यों हमारी बुद्धि गड़बड़ होने लगती है क्यों हमारे अंदर ज्ञान का सामर्थ्य कम होने लगता है क्या महाराज की किस्मत की बात है क्या क्या हमारे ज्योतिष हमारे जो कुंडली में फलाने ग्रह में ये देवता फलाने ग्रह में वो देवता क्या ये चक्कर है क्या महाराज जी अगर देवता बैठे तो बैठ ही गए अब क्या करेंगे अब तो हिलेंगे थोड़ी हाँ? अब बुद्धि के ग्रह में राहु बैठे हुए हैं तो महाराज जी अब आपका क्या चले आप क्या कर रहे हो वो तो सीधी बात है अब राहु केतु जब नहीं बैठे हुए हैं बैठने चाहिए गुरु हाँ? और बैठे हुए हैं कोई दूसरे महाराज जी अब तो जीवन गया कहा से ये समझ लो पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कुंडली की चर्चा ही नहीं की कहीं पर भी उपनिषदों में चर्चा नहीं करी बल्कि राम जी जिस समय वशिष्ठ जी के पास गए पढ़ने के लिए वहां पे पहली बार हम लोगों को ये समस्त रहस्यों का ज्ञान मिलता है कि हे राम आदमी अपना खुद पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनाता है जो भी तुम्हारे कर्म हैं हैं कुछ कर्म ये बात भी सही है लेकिन वो कर्म किसी और ने नहीं बनाए हैं वो सब कर्म हम लोग अपने कर्म से बनाते हैं पुरुषार्थ से बनाते हैं इसीलिए समर्थ होके जियो दीन होके मत जियो यही हम लोग हनुमान जी की प्रार्थना से इन लोगों से शिक्षा लेते हैं कि अगर आपको अच्छा सत्संग मिल जाए ठीक ज्ञान मिल जाए तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है चाय वाला प्रधानमंत्री भी बन जाता निश्चित रूप से भैया ज्ञान की तो महिमा है ना किस्मत का खेल थोड़ी है जो नहीं जानते ना जिन्होंने सत्संग नहीं करा है ना वो बोलते है देखो क्या किस्मत है यार हाँ। कहा चाय वाला ट्रेन में चाय बेचा करता था आज कहां कहां बैठा हुआ है एक ने अभी उनको पढ़ने में आया बोलते हैं यार क्या किस्मत है बोले क्या बोलते पहली बार विधानसभा में गया मुख्यमंत्री बन के और पहली बार लोकसभा में जा रहा है प्रधानमंत्री बन के क्या किस्मत है अरे यार किस्मत है कितना अन्याय है अन्याय तो ये समझो कि उसने जीवन में सत्य का आश्रय लिया छोटे पने का आश्रय नहीं लिया हमको कौन रोकता है हमको कौन रोकता है कि बगैर दीनता से बगैर सदैव चिंता से जियो स्वार्थ से जियो हुँ? कितने साल बारह साल जो है ना मुख्यमंत्री रहे तेरह साल रहे कितने साल है एक बार अपनी माता जी को मुख्यमंत्री गृह में भी नहीं बुलाया अनासक्त बोलते नहीं ये तो मंदिर है भाई हमारी सेवा का क्षेत्र है यहाँ न राग न द्वेष न कोई कुछ नहीं केवल सेवा होगी यहाँ पे अनासक्त होके सन्यासी होके पूरे बाबा बन के करा तो बाबा बनने गए थे हम अभी बंबई में गए थे प्रवचन था हमारा वहां रामकृष्ण मिश्र मठ जो होता है ना उनके ही प्रांगण में विवेकानंद ऑडिटोरियम है वहां पे प्रवचन थे हमारे तो उनके अध्यक्ष थे स्वामी जी सर्वलोकानंद जी महाराज तो बैठे थे वो उन्होंने बुलाया था भोजन भोजन थे तो बोल रहे हमने बोला महाराज जी आपके जो है ये स्वामी विवेकानंद जी के भक्त परम भक्त अभी तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बोलते हाँ आपको तो उनके कहानी बताएं वो आए थे हमारे आश्रम में हमारे राजकोट आश्रम में आए थे बाबा जी बनने के लिए उस समय जो वहां अध्यक्ष बैठे थे उन्होंने बोला नहीं बेटा तुम्हारे सकल देख के ही लगता है तुम बाबा वाले नहीं हो तुमको तो देश की सेवा करनी है उन्होंने देख के बोल दिया था और उनको नहीं स्वीकार करा वैसे हर आश्रम में लोग रास्ता देखते रहते हैं कोई तो आए बोलने के लिए बाबा बनने वाले सत्संग में जल्दी जल्दी नहीं आते बाबा बनने के लिए तो बहुत दूर की बात अब कोई आ गया लेकिन उनकी महिमा थी उन्होंने देखा और वो बोल दिया नहीं बेटा तुमको जाना है चले गए वहां से तो अल्मोड़ा में दोबारा उनका आश्रम था दूसरे महाराज जी वहीं पे उसी रामकृष्ण मिशन के थे उन्होंने भी यही का वचन बोला बोला नहीं बेटा तुम्हारे जो है ना तुमको बाबा नहीं बनना है तुमको तो देश की सेवा करनी बोला अब तो भैया दो दो जगह से प्रमाण पत्र मिल गया अब तो ठप्पा लग गया अब तो देश की सेवा की करनी है तो भी एक डेढ़ साल हिमालय में घूमे गैरिक वस्त्र पहन के बाबा बन के घूमे फकीरी जरूर थी निस्वार्थता थी अनासक्ति थी निरभिमानता था कोई भी अगर ऐसे ज्ञान से युक्त होता है वो निश्चित रूप से विजयी होता है इनके यहां पे प्रधानमंत्री बनने से एक चीज हमको खुशी लग रही है कि जो किसी स्वामी विवेकानंद जैसे वेदांत के महान ज्ञान से युक्त था उनके चरणानुरागी जो है दुनिया को पहली बार पता लगेगा इस ज्ञान का बल कितना है इसीलिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं सब संत लोग सब महाराज महात्मा लोग बोलते हैं कि अब तो भाई पहली बार स्वतंत्रता के बाद उस गद्दी पे पता नहीं कौन कौन से आए थे बैठने वाले पिछले सरदार जी सीधे साधे थे लेकिन वो इतने सीधे थे कि उनको इसीलिए बैठाया गया थे बहुत सीधे उनको सामने बैठा के पीछे कुछ भी करते रहो बेचारे बिल्कुल ही बोले वाले ये आए हैं अच्छी तरह से पके हुए कोई भी व्यक्ति अगर सत्कर्म सदज्ञान का आश्रय लेता है भैया बहुत बल होता है इस ज्ञान में इंसान के जीवन को बदल देता है आप लोग सब लोग जो है भगवान की भक्ति से इतनी श्रद्धा इतनी आस्था रखने वाले हम लोग प्रमाण अपने जीवन में देख सकते हैं थोड़ी भक्ति प्राप्त हुई तो जीवन में क्रांति हो गई यहाँ पे जो है दुनिया में इतने माया मोह है देखो बैठे हुए भजन सुन रहे हो हनुमान चालीसा सुन रहे हो भजन कर रहे हो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं ये जो रस ले वही जानता है हाँ? रस विशेष जाना कि नहीं जब तक कोई करे नहीं ना रस विशेष नहीं पता उसको क्या पता लगेगा इन चीजों का क्या आनंद होता है तो ये जो ज्ञान है बहुत बलवान है बहुत क्रांतिकारी है बहुत अद्भुत है लेकिन हम लोगों को इस ज्ञान में कौन रोकता है उसका संकेत ये प्रार्थना के अंतिम चौपाई में कहा हरहु कलेश क्लेश और विकार ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बल को भी रोकती हैं हमारी बुद्धि का भी जो है विकास नहीं होने देती हैं और हमको ज्ञान नहीं प्राप्त होने देती देखो जब भी कोई रोग को जड़ से दूर करना हो तो उसकी जड़ को पहचानना पड़ेगा हमको पता है कि हमको बुद्धिमान होके जीना है ज्ञानवान होके जीना है बलवान होके जीना है भैया तो कौन रोक रहा है हमको केवल क्लेश और विकार और क्लेश और विकार दो ऐसी चीजें हैं भगवान बोलते हैं भैया हमने किसी को नहीं दी ये तुमने अपने अंदर ही नासमझी से अज्ञान से खुद उत्पन्न कर लिया है और इसीलिए तुम अगर चाहोगे ना तो ये दूर कर दोगे इसीलिए एक तरफ से ये भी जरूर मांगो कि भगवान हमको बलवान करिए हमको बुद्धिमान करिए हमको ज्ञानवान करिए ये तो प्रेरणा होनी चाहिए जहां कोई बलवान हो बुद्धिमान हो उसका सत्संग करो ऐसे लोगों की मित्रता करो उन्हीं लोगों के साथ उठो बैठो इससे परिचय मिलता है कि ये आदमी बल बुद्धि विद्या देव मोही ये दिल से प्रार्थना कर रहा है जो भी किसी क्षेत्र का ज्ञानवान आगे बढ़ के उससे मित्रता करो निसंकोच होके करो यही हनुमान जी ने हम लोगों को सिखाया जिस समय वो लंका गए सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय था और गली से निकलते हुए राम राम राम आवाज आई उन्हें बोला हो ना हो ये तो रहा लंका में भगवान का भक्त हमको आगे बढ़ के मिलना चाहिए मित्रता करनी चाहिए वेश बदल के सीधे इनिशिएटिव लेके पहल करके जाके उनसे मिले और क्या जीवन में मोड़ था लंका में टर्निंग पॉइंट था केवल आगे बढ़ के अच्छे लोगों से मिलने का परिणाम था संकोच नहीं करना चाहिए कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कोई महात्मा लोग भी होते हैं कोई अच्छे धर्मात्मा लोग होते हैं सत्यवादी होते हैं आगे बढ़ते हुए लोग क्या कर लें अरे यार पता नहीं गुस्सा होंगे क्या मारेंगे स्वामी लोग डंडा रखते हैं डंडे दर्द हमारे सर पे हाँ? अगर ऐसी पोकट का डर रहेगा ना तो आप भी बन हो आगे बढ़ के मिलो खूब इनिशिएटिव लेते हो अच्छे लोग सदैव जो है अच्छाई का आदर करते हैं हमको खुद आगे बढ़ के करना पड़ता है ये हमारे अंदर खुद स्वजनित विकार है देखिए भगवान ने जिस समय भेजा दुनिया में उस समय कोई क्लेश विकार आदमी के अंदर नहीं थे बच्चे की आंख देखो क्या चमक होती है और अनेकों लोग जब बड़े हो जाते हैं उनकी आंख देखो ऐसी मायूस होती है कि खुद भी तनाव हो जाए देख के शक्ल में यार क्या दुर्दशा बना ली है तुम्हारी शक्ल देखते हैं हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है कभी तो मुस्कराया करो बोलते अरे महाराज जी हम लाफिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं मुस्कराना दोबारा सीख आजकल का कलियों का आलम तो देखो है लोगों को लाफिंग क्लब में हंसना सिखाया जा रहा है वहां अनेकों प्रकार बताए जा रहे हैं अरे देखो इतने प्रकार की हंसी होती है मंद मुस्कुराहट बड़ी मुस्कुराहट खिलखिलाहट की मुस्कुराहट उसने अच्छा महाराज जितने होते हैं हमको तो पता ही नहीं था ऐसी दुर्दशा हो गई जब भगवान ने हम लोग को दुनिया में भेजा बच्चे का चेहरा देखो अपने पुराने एल्बम देख लो क्या चेहरा था यार बढ़िया आंखों में दिव्यता थी चमक थी मुस्कुराहट थी इनोसेंस थी क्या दिव्यता थी आभा थी चेहरे पे और कहा गड़बड़ हुई कहाँ खो के आगे है किससे दुस्संग करा है तुमने कि सब खो गया सब बढ़िया था मैन्युफैक्चरिंग जब होके आए थे तो सब बढ़िया थी नशी हरहु कले सविकार दुस्संग करते करते क्लेश और विकार आ गए क्लेश और विकार का दुष्परिणाम होता है कि हमारे अंदर कमजोरी आती है हमारी बुद्धि मंद पड़ जाती है और हमारी जो विद्या का सामर्थ्य सकुंठित हो जाता है तो ये क्या चीज होती है क्लेश विकार क्लेश जो है वह हमने आपको पिछली बार संकेत करा था वैसे तो विद्वान लोग बहुत गहराई से चिंतन करते हैं हम लोग यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति को क्या जानना चाहिए हम उसकी आपको संकेत करते हैं पांच तरह के क्लेश होते हैं योग शास्त्र में पतंजलि महर्षि जी ने यह सब बड़ा अच्छी तरह बताया हुआ है ये दूसरा अध्याय जो है ना पतंजलि योग सूत्र का उसमें आप देखो तो एक एक की परिभाषा मिलेगी भाष्य मिलेगी क्लेश होते हैं पहला होता है अविद्या दूसरा होता है अस्मिता तीसरा होता है राग चौथा होता है द्वेष और पांचवा होता है अभिनिवेश तो अज्ञान अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच चीजें बड़ी घातक होती है जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना वो टेस्ट वेस्ट दुनिया भर का खून वून का करते हैं एक्सरे करते हैं बोलते हैं भैया ये समस्या है हम लोग के मनुष्य लोगों ने मनुष्य के मन के ऊपर विचार करा बोलते हैं ये पांच चीजें धीमे धीमे से अगर तुमने आने दी ना तुम्हारे मनुष्य जीवन की मनुष्यता खत्म कर देती है इतनी घातक होती है इसीलिए सजग रहो सजग ही नहीं रहो भगवान से प्रार्थना करो भगवान ये पांच चीजों के ऊपर हम और सब हमारे मन की बातें किसी बात से मदद नहीं चाहिए केवल सत्संग अच्छे लोगों का संग रखो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो ये पांच चीजें तुमको जो बता दे जो रहस्य दिखा दे उसको जरूर जानने की कोशिश करो और तुमको बताएंगे कि तुम खुद कर सकते हो बस पहली चीज है तुम्हारे अंदर चाह होनी चाहिए और इसका परिचय होना चाहिए जो पहला क्लेश होता है उसको बोलते हैं अज्ञान हमको पता नहीं शुरुआत में कोई भी मनुष्य यहां आता है हर व्यक्ति अज्ञान से ही मनुष्य का जन्म ही होता है इसको कारण शरीर भी उपनिषदों में कहते हैं अज्ञान बोलते हैं कारण है तुम्हारे भैया जन्म का और ये जन्म मरण का चक्र जहां पे अविद्या जहां पे ये कारण शरीर खत्म हो जाएगा ना ये जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है तो बस अज्ञान हर चीज का ज्ञान है हमको कोई स्कूल में भेजना पड़ता है कॉलेज में हम लोग जाते हैं कर कर सीखते हैं खाना कैसे खाना है कौन सा खाना है बोलना कैसे अ आ ई ई कैसे बोलना है लिखना है ए टू जेड हर चीज अब ये हारमोनियम तबला है सब दो इतना बड़ा ज्ञान है ये किसी म्यूजिक टीचर को पूछो जाके बोलो महाराज जी जरा म्यूजिक सिखाओ बोलते हैं दो साल कल आए थे एक सज्जन हमारे उसने हैं महाराज जी एक टीचर बैठा है म्यूजिक का म्यूजिक सीख रहे हैं बोला कितना सीखे उसने दो साल में अभी सा ही चल लग रहा है अभी सा के बाद सा रेख नहीं चालू हुआ है हमारे टीचर संतुष्टि नहीं होते बोलते हैं यार तुम्हारा सा ही नहीं लग रहा है बेटा हम्म? इतनी ज्यादा छोटी छोटी चीजें होती हैं अगर आप ठीक से ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो उसमें हमको किसी न किसी अपने दीपक को जलाने के लिए जलते हुए दीपक के पास जाओ और जो प्राप्त करना है प्राप्त करो अज्ञान तो सब होगा शुरुआत में लेकिन सब बाकी दुनिया के अज्ञान से इतना समस्या नहीं होती जिस अज्ञान को क्लेश बोला जाता है अब आप चीनी भाषा नहीं जानते हो तो बड़ा क्लेश है क्या बोलते महाराज जी कोई क्लेश नहीं है जापानी नहीं जाने चीनी नहीं जाने उसमें कौन सा बड़ा क्लेश है नहीं जानते नहीं जानते लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको नहीं जानने से भयंकर समस्या हो जाती है और वो वेदों में दो चीजें मात्र बताई गई है एक होता है धर्म अधर्म का ज्ञान और दूसरा होता है नित्य अनित्य का ज्ञान ये दो ज्ञान अगर हमको पता लग जाए इस दो चीजों की स्पष्टता हो जाए तो हमारे क्लेश की जड़ खत्म हो जाती है धर्म अधर्म उसको बोलते हैं व्यवहार में जीवन में अनेकों परिस्थिति आती है उस समय उचित क्या है और अनुचित क्या है बस इतना समझ जाओ अब कई बार कोई गड़बड़ आदमी आता है कर तो निपटना है उसको दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है देश के ऊपर तो कुछ उचित काम क्या है करना है हमको अब यहाँ हमारे जो है सैनिकों के सर कोई काट ले गया हमारे वो पुराने सरकार वाले समझ ही नहीं पा रहे उचित क्या है हर बार धमकाते देखो यार आखिरी बार है छोड़ूंगा नहीं बोला शायद अभी सही में अति हो गई है दोबारा आ गए बोले अब देखो आखिरी बार बोल रहा हूं इसके बाद छोड़ूंगा नहीं हम तो हर बार सोचते थे कि अब कुछ हुआ इस बार कुछ हुआ लेकिन एक ही डायलॉग निकलता था अगली बार छोड़ूंगा नहीं तो शर्म सर झुक जाता है यहां पे इन लोगों को अकल ही नहीं है कोई समझ ही नहीं है सत्य क्या है धर्म क्या है उचित क्या है यानी क्या डरपोक लोग हैं वैसे खुद मरना स्वीकार है घुट घुट के मरना स्वीकार्य है सर नीचा करके जीना स्वीकार्य है लेकिन वहां पे क्या उचित है वो समझ के हुए निर्णय करना स्वीकार है हर जीवन के मोड़ पे उचित क्या है अनुचित क्या है इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए इसको उपनिषदों में कहा जाता है श्रेय और प्रेय धर्म धर्म को एक मंत्र आता है कठोपनिषद के अंदर श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीत्य विविनक्ति धीर तुमको जीवन के हर मोड़ पे वहां पे नचिकेता उनका शिष्य था उसको बता रहे थे बोलते हे नचिकेता जीवन के प्रत्येक मोड़ में तुमको श्रेय और प्रेय सामने दिखाई पड़ेंगे दो विकल्प दिखाई पड़ेंगे दो रास्ते दिखाई पड़ेंगे एक वो होगा जो तुमको अच्छा लगता है हमको अच्छा लगता है सही हो गलत हो उसकी चिंता मत करो अच्छा लगता है और एक वो होता है जो उचित होता है भगवान की कृपा से हमको शुगर का रोग हो गया है अब हमने भी सोचा यार कहा मिठाई मिठाई बाद में खाओ एक ही बार खा लो जितना खाना ऐसे रगड़ के खाई हमने मिठाई आपको क्या बताया अविवेक से खाई अंधाधुंध खाई और पता लगा आगे अब मिठाई के केवल दर्शन करने होते खा नहीं सकते अब वहां पे क्या होता था कि जब मिठाई आती थी हम बड़े तटस्थ होके देखते थे यार कम खाना चाहिए लेकिन जब अंदर जाती थी तो पता नहीं कुछ कुछ होता है, हाँ? अब ऐसा मजा आता था तो सोचते यार बड़ा आनंद आया एक और खा लिया एक और खा लिया और मिठाइयों में जो मिल्क केक बनता था वो तो हमारी वीकनेस थी वो हमारे विवेक को पूरा भ्रष्ट कर देता था हमारी तपस्या भंग कर देता था हमारा विवेक खत्म कर देता था और बाकी सब दाएं बाएं जाए तो हम फटाफट दो चार खा जाते थे अब ये जो हमको अविवेक हुआ क्या हुआ उसमें उचित क्या है श्रेय क्या है इसकी उपेक्षा करके प्रिय क्या है ये काम करना ये विनाश के कारण है अभी खाने के पहले भी दवाई खाओ लंच के पहले खाओ ये भी खाओ सुई भी लगा वाला बोलते और खाओ महाराज लड्डू और खाओ हेल्थ के और चढ़ो प्रेम मार्ग के ऊपर और अपने जीवन का विनाश करो अगर जरा पहले श्रेय का पद का सोच लेते भैया तुम्हारा जीवन है जो उचित है वो क्यों ना करा जाए ये विवेक की बात है ये ज्ञान होना चाहिए ये हमारी शिक्षा में नहीं है भाई अब धीमे धीमे बाद में अकल आई बाद में समझे कि होना चाहिए था हाला ठीक है अब तो देर हो गई अब अगर इस जीवन में मुक्त नहीं हुए दोबारा जन्म मिला तो उस जन्म में ट्राई करना शुरू से लेकिन अब तो गए काम हमको जीवन में जब भी कोई परिस्थिति मिले वहां पे उचित क्या है ये सोचने का सामर्थ्य होना चाहिए ये ज्ञान है बहुत बड़ा ज्ञान है इसके लिए बड़े बुजुर्गों का साथ चाहिए जहां पे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना वो हमारी आंख खोल देते हैं भाई ये हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन कल्याणकारी है नीम खाना अच्छा नहीं लगता है करेला खाना नहीं अच्छा लगता है लेकिन कल्याणकारी है करेले से तो हम इतने तंग आए हमने आपको एक बार शायद सुनाया था प्रसंग कहीं भोजन पे गए हमको करेला नहीं अच्छा लगता था हमने सोचा यार अब कोई आ जाता है ना थाली में तो छोड़ते नहीं अब अब सिद्धांत बना हुआ है तो भाई ने पहले दिन कहीं गए थे किसी शहर में वो भोजन पे बुलाया महाराज जी भोजन करो आके हम आए तो करेला बनाया था क्या बोले अब भोग भोग लगा लिया था जल वल डाल लिया सब आचमन कर लिया और जब आँख खोली तो करेला हम बोला कोई बात नहीं अब जो आ गया है अब बुद्धिमत्ता का परिचय दो तो बुद्धिमत्ता का परिचय ये दिया कि पहले हमने सोचा करेला निपट लो गटक लो <laughs> तो नाक बंद करके करेला मुंह में रखा जल्दी से बगैचे बाज हुए भाई ने बोला और दें हमने ठीक है बस हो गया उसके बाद हमने बाकी खाना खाया अब उसने देखा कि ये महाराज जी को करेला देखो इतना पसंद है कि थाली आई नहीं और करेले के ऊपर टूटे पड़े उस दिन क्या करेला खिलाया है उसने उनको अरे नहीं महाराज एक और बहुत अच्छा बनाया बड़े प्यार से बनाया वहां तक तो ठीक दूसरे के घर दूसरे दिन भोजन करने वाले थे तो उन्होंने इनको फोन करा बोला कल बाबा जी आए थे क्या खाया बोला भैया कोई बनाओ ना बनाओ करे तुझे बनाओ <laughs> राम वो सात दिन जो करेला हमारे पीछे भागा अब करेला जो है ना डायबिटीज वालों के लिए अमृत है लेकिन खाते नहीं थे अज्ञान था कुछ नहीं पहला क्लेश यही है अज्ञान नहीं जानते काश हमको पता हो जाता तो कितनी अच्छी बात थी हम भयंकर रोग से मुक्त हो जाते क्या बोलना है क्या करना है क्या निर्णय है कहाँ जाना है कहाँ खाना है कहाँ रिश्ता करना है क्या सही है अभी घर में अपने लड़के लड़कियों की शादी करते हो कोई प्राय घर का आता है आपके वहां अनेकों विचार करते हैं ना क्या विचार करते केवल कुंडली देख ले तो एक चीज होती है जरूर देख लेना चाहिए कर्म वर्म दैवी गुण क्या है स्थिति क्या है जानना चाहिए लेकिन और बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए व्यवहार की चीजें जाननी चाहिए आचरण की जाननी चाहिए बहुत ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जिसको ज्ञान है वो देख के ताड़ जाता है जिसको अगर ज्ञान होता है राम जी ने पहली बार हनुमान जी को देखा ब्राह्मण के वेश में आए थे ऊपर से कोई वानर ही नहीं रहे थे लेकिन उन्होंने मुड़ के लक्ष्मण को बोला लक्ष्मण धीमे से उनके कान में वाल्मीकि रामायण में लंबा प्रसंग आता है वो बोलते हैं कि हो ना हो ये जो व्यक्ति है ना चारों वेदों का मर्मज्ञ और ज्ञाता है तुमको बता इमीजिएट प्रमाण पत्र दे दिया केवल देख के थोड़ा बोल के एक बार मुंह खोला उन्होंने पूरे बात बता दी पता लग जाता है तो जहां पर किसी के अंदर ये ज्ञान होता है क्या हाँ, कैसा बोलना है हनुमान जी की तो बहुत विशिष्टता है हम लोग आगे चल के हनुमान चालीसा में और देखेंगे अनेकों विशिष्टताओं में से हनुमान जी की वाणी की विशिष्टता क्या बोलना है इतना बढ़िया ज्ञान होता है सीता जी जिनके अंदर एक साधु सन्यासी के प्रति भी श्रद्धा टूट चुकी थी उनके ऊपर विश्वास करके अपहरण कर लिया गया था उनको अपनी वाणी से कितने जो है शीघ्र उन्होंने पूरा विश्वास जीत लिया अद्भुत है वाणी क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए क्या सोचना चाहिए क्या होना चाहिए इसको बोलते हैं धर्म धर्म का ज्ञान उचित अनुचित का ज्ञान उचित अनुचित का ज्ञान ये हम लोगों के स्कूलों में होना चाहिए आजकल हम लोग अपने स्कूलों में नहीं देते हैं ये ज्ञान ये सही बात है आजकल के स्कूलों में जो ज्ञान होता है उसका प्रयोजन है कि बस ये नौकरी लग जाए नौकरी मिल जाए फिर छोकरी मिल जाए बस ज्ञान हो गया उसका बोलते महाराज जी हो गया जो बढ़िया सब सेटल हो गया सेटल हो गया क्या यार ज्ञान ज्ञान ये तो केवल धंधेबाजी के लिए ज्ञान हो गया है हमारे वहां ज्ञान का मतलब आदमी को जीवन में कोई भी परिस्थिति आए उचित क्या है तुमको पता लग जाए देखो उचित का ज्ञान नहीं है ना इसलिए डरते हैं हम लोग पता नहीं महाराज जी जा रहे हैं चले जाए मुहूर्त अच्छा है ना तीर्थ पे जा रहे हैं अरे यार तीरथ पे जा रहे तो उसमें क्या मुहूर्त देखना है हम महाराज जी कहीं गाड़ी डूब ना जाए कहीं वहां गंगा जी की बाढ़ ना आ जाए हमारी बस ना गिर जाए महाराज जी वापस आ जाएंगे ना मुहूर्त तो है उचित न जानने के वजह से डर लगता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये ज्ञान न होना अनेकों क्लेश का द्वार ये एक अज्ञान है दूसरा ज्ञान और महत्वपूर्ण सूक्ष्म होता है जिसको बोलते हैं नित्य अनित्य का ज्ञान धर्म अधर्म का जो प्रारंभ का ज्ञान है वो हमारे धर्मशास्त्र हमारी गीता रामायण ये सब हमको प्रारंभ में पुराण ये भजन महाभारत भागवत बहुत सुंदर तरीके से बड़े अनुपम तरीके से धर्म अधर्म उचित अनुचित क्या मर्यादा है क्या कल्याणकारी है इसकी शिक्षा दे देते हैं लेकिन उसके बाद एक दूसरी कक्षा में जब समय हम लोग अपने गुरु के पास जाते हैं बोलते हैं बेटा तुमने बहुत अच्छी तरीके से प्रारंभ में धर्ममय जीवन जिया है अब तुम्हारी दूसरी क्लास चालू करते हैं अब ये तुमको जानना है कि नित्य क्या है अनित्य क्या है टिकाऊ क्या है यहां पे क्या चीज है जो टिकाऊ है भाई कल्याणकारी है नहीं है ये एक चीज इससे फायदा होगा ये एक चीज या आशीर्वाद मिलेगा ये एक चीज है लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये टिकाऊ है कि नहीं कभी सोचो दुनिया में क्या है जो टिकाऊ है इंसान टिकाऊ नहीं है रिश्ते नाते टिकाऊ नहीं है नाम इज्जत टिकाऊ नहीं है धन दौलत टिकाऊ नहीं है ये शहर टिकाऊ नहीं है अब पहले शहर क्या था अभी क्या हो गया देखो कैसे बदल गया दुनिया टिकाऊ नहीं है शासन टिकाऊ नहीं है राजा टिकाऊ नहीं है मौसम टिकाऊ नहीं है किस्मत टिकाऊ नहीं है क्या टिकाऊ है अगर खोजने जाओ तो कुछ भी टिकाऊ नहीं दिखाई पड़ रहा है कालो जगत भक्ष कहा ये काल सबका भक्षण कर रहा है पूरी प्रकृति का प्रलय हो जाता है इस समय जगत भी टिकाऊ नहीं है वो भी नहीं टिकाऊ है क्या टिकाऊ तो बोलते हैं हाँ ये तुमको जानना है कुछ ना कुछ टिकाऊ यार और जब तुम जीवन में ये जान जाओगे टिकाऊ क्या है तब तुम्हारे जीवन में सब क्लेशों की जड़ खत्म हो जाएगी महाराज जी क्या है टिकाऊ बताइए बोलते हैं नहीं बताइए अभी थोड़ी बताइए अभी पहले हनुमान चालीसा का पूरा ज्ञान प्राप्त करो पूरा भी तो एक ही शब्द पे अटके हुए हैं अभी तो जो है क्लेश शब्द के प्रकार ढूंढ रहे हैं पूरे हनुमान चालीसा का पढ़ो और उसके बाद धर्ममय जीवन हनुमान जी की तरह जियो तब जाके ये विशेष सूक्ष्म रहस्य ज्ञान इस ज्ञान को देने के लिए हम लोगों के गुरु बोलते सर मुड़वा के आओ तब ज्ञान दूंगा बेटा यहाँ एक सज्जन आए पढ़ने के लिए बढ़िया से मूछे ऊंचे थे बाल थे उनकी जुल्फे थी हमने बोला क्या सही में ज्ञान प्राप्त करना है बोलते आओ हाँ, जी करना है हम बोला चलो कल बुलाएं नौवा को <laughs> हमने जहाँ उसको बोला कल सवेरे बाल कटवाते हैं रात को ऐसी उथल पुथल हुई उसने खुद हमसे नहीं बोला अपने घर में फोन करा बोला यार स्वामी जी तो बाल कटवा रहे हमारी मूछे भी मुड़वा रहे उनके घर से हमको फोन आया बोला जी यहाँ तबीयत खराब हो गई है बहुत इमरजेंसी है इसको घर भेज दो हमने बोला यार ये बाल कटाना और इस चक्कर में ज्ञान छोड़ दिया उसने आश्रम छोड़ दिया भाग गया यहां से और उसके उपरांत जो है वो हम लोग को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर बार छुड़वाया सर मुड़वाया सब करवाया तब ये ज्ञान देते हैं तुमको सही में चाहिए क्या गुरु परीक्षा लेते हैं हाँ? तो ये ज्ञान जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है और मगर ये विश्वास रखो कि ये जो नित्य और अनित्य का ज्ञान होता है यह अवश्य प्राप्त हो सकता है और हाँ, पूरे विश्व में इस ज्ञान का विज्ञान हम लोगों के वेद है ये भी आपको बता दें पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं इस ज्ञान की प्राप्ति में अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब बोलते तो है ना आत्मा नित्य है लेकिन आत्मा का साक्षात्कार हो देख लो जान जाओ स्पष्ट हो जाए तो ये नित्य अनित्य का ज्ञान दो ज्ञान होते हैं जो बहुत पीड़ादायक होते हैं अगर नहीं प्राप्त करो तो पहला क्या है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म अधर्म भगवान को धर्म अधर्म इतना प्रिय है बोलते हैं भैया हम केवल धर्म अधर्म को ही देख के अवतार भी लेते हैं गीता का एक श्लोक याद है तो रामायण में भी आता है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मान सजाम्य हम जब जब धर्म कम होता है ना हमको बेचैनी होती है और हम फट से उतार लेके शुरुआत में तो अपने भक्तों को बोलते हैं प्रेरणा देते हैं लेकिन कई बार नहीं हैंडल होता है तो हमको खुद आ वो भी गवारा है धर्म हमको इतना प्रिय जो धर्मात्मा होता है उसको हम ज्ञान भी दे देंगे उसको जीवन में कल्याण कर देंगे सब कर लेंगे धर्म ही वो भूमिका है और धर्म के लिए आपको तो संसार में छोड़ना है बाल नहीं मुड़वाने हैं कुछ नहीं करना है धर्म के लिए इसी दुनिया इसी परिवार यही नौकरी यही धंधे यही रिश्ते नाते इनमें रह के धर्म धर्म का ज्ञान बहुत आवश्यक है आपको इस संदर्भ में एक बात बताएं कि किसी ने पूछा कि भाई गीता का विषय क्या है तो एक महात्मा जी बोलते हैं देखो भाई गीता का पहला शब्द और आखिरी शब्द ले लो उसको जोड़ लो वो गीता का विषय है गीता का पहला श्लोक आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सवह इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव लोग जमा हुए क्या हुआ है संजय हमको बताओ धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था तो श्री गणेश हुआ था धर्म शब्द से और अंतिम शब्द आता है मम तो बोलते हैं मम धर्म हमारा धर्म क्या है पूरी गीता एक और गीता का कितना आता है हिंदू आदमी जब कोर्ट में जाता है तो गीता पे याद रख के गुजर जाता है ये हमारी आप लोगों का प्रमाण है केवल धर्म की चर्चा है अर्जुन ने भगवान से बोला भगवान यहां हमारा धर्म क्या है हमको समझ में नहीं आता धर्म सम्मूढ़ चेता धर्म क्या है ये हमको पता नहीं लग रहा है प्रभु तो धर्म का अज्ञान ऐसा हाँ, शोक लाता है टेंशन लाता है अर्जुन जैसी दुर्दशा हो जाती है इसीलिए कोशिश करनी चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए धर्म अधर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना चाहिए आगे बढ़ के जाना चाहिए अगर आप चाह रखोगे ना भगवान आपको राह दे देंगे इसीलिए अगर हमको धर्म का ज्ञान चाहिए केवल दिल में प्रार्थना करनी चालू करो भगवान हमको यही इच्छा है पहले धर्म धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे सही गलत हमको स्पष्ट हो जाए हस्ता मलक वत हो जाए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए इतनी स्पष्टता से आपके दिल में ज्ञान हो धर्म क्या है धर्म कोई भी परिस्थिति आंद परिस्थिति से सुख दुख नहीं होता है अधर्म का निर्णय लेने से दुख होता है अनेकों लोग हैं हमारे गुरुदेव बोला करते थे कि देखो भैया बुद्धिमान आदमी के ऊपर पत्थर भी फेंको ना कोई पीड़ा नहीं होती है वो बोलता है थैंक यू बोला ऐसे कैसे बोलता है बोलते हैं अरे उसको तो घर बनाना था लोग पत्थर फेंक रहे थे उसने ईट ले लेके घर बनाना था आज हमारे मोदी जी के ऊपर पिछले 12 साल तक क्या लाछनाएं लगाई हैं वो विषय एक टस मस नहीं हुए उन्होंने उन्हीं को आशीर्वाद और सुखी रहे कहां से कहां पहुंच गए मुसीबतों को भी आशीर्वाद बना लेना यह धर्म का आशीर्वाद होता है अगर धर्म का ज्ञान होना तो आपको चिंता नहीं होती अरे मुसीबत आने वाली बोलते हैं कोई बात नहीं एक ज्योतिषी जी किसी बाबा जी को मिले बोलते महाराज जी आपके माथे पे लिखा है आपके हाथ में लिखा है साढ़े सात ही चालू हो रही है महाराज जी नाचने लगे बोलते वाह यार कितनी अच्छी बात बताई आपने बोले आपको पता है महाराज क्या मतलब होता है साढ़े सात ही का करोड़पति रोडपति बन जाता है हाँ, रोड पे आ जाओगे बोलते यार बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं विरक्ति अब तो भगवान की कृपा से विरक्त होंगे अब दैवी कृपा से विरक्त हो जाएंगे हम उसको आशीर्वाद बना ले दृष्टि होती है समझ होती है प्राथमिकताएं होती है धर्म की महिमा यह होती है कि कैसी भी परिस्थिति हो आपके जीवन की एक्सप्रेस गाड़ी बगैर होके चलती रहती बहुत बढ़िया चीज होती धर्म का ज्ञान इसीलिए धर्म का ज्ञान प्रारंभ करो और जब धर्म का ज्ञान हो जाए तो अगला एक और अज्ञान दूर करना है वो नित्य अनित्य का ज्ञान दूर करना और नित्य अनित्य का ज्ञान अगर आपने दूर कर लिया मनुष्य जीवन में और उसके अलावा दूसरी कोई चीज प्राप्त करने योग्य नहीं इतना बड़ा ज्ञान साक्षात आपको राम जी की प्राप्ति हो जाएगी और जैसे गोस्वामी जी बोलते हैं ना सिया राम मैं सब जग जानी महाराज जी हम तो नहीं जानी कहा है राम जी हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हमको तो ये दरवाजा दिखाई पड़ रहा है ये दीवार दिखाई पड़ रही है ये इंसान दिखाई पड़ रहा है ये जानवर दिखाई पड़ रहा है ये गिलास दिखाई पड़ रहा है बोलते हैं हमको तो नहीं हमको तो राम जी दिखाई पड़ रहे हैं इसका ही लक्षण है कि उनको नित्य और अनित्य देखना आ गया वो देख रहे बोलते इसी जगह खड़े हुए यार नित्य इसी समय नित्य विद्यमान है नित्य के ज्ञान से कण कण में राम जी दिख जाते हैं आपके रोए रोए में राम जी दिख जाते हैं आपकी आत्मा की तरीके से राम जी दिख जाते हैं सर्वम ब्रह्ममयम हर चीज वही ब्रह्ममय है ये दिख जाती है ये नित्य अनित्य के ज्ञान की महिमा है तो वो आगे का ज्ञान है दो पड़ाव होते हैं धर्म धर्म का ज्ञान और नित्य नित्य का ज्ञान इससे कोई अलावा दूसरा ज्ञान मोक्षदायी नहीं होता है क्लेश को समाप्त करने वाला नहीं होता है तो पहला क्लेश होता है ये अविद्या ये अज्ञान इस चीज का ज्ञान अगर इस चीज की प्राप्ति नहीं है तो टेंशन होगा चिंता होगी क्लेश होंगे समस्या होगी और एक बार अज्ञान है तो दूसरा फिर क्लेश आता है उसका नाम है अस्मिता अस्मिता नामक क्लेश ये होती है कि आप अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है पता नहीं है अज्ञान है और एक काल्पनिक पहचान बना लेना कोई ना कोई बाहरी परिवेश से अपने वेश से गीता में भगवान बोलते हैं भाई तुम्हारा मनुष्य जीवन है ना ये वेश है हम सब लोगों के पास चौरासी लाख योनियों का विकल्प है योनिया क्या होती है पता है वेश होते हैं अनेकों संभावित वेश है जीव अनेकों वेश धारण कर सकता है मनुष्य का शरीर धारण कर सकता है वानर का बन सकता है पक्षी का बन सकते हैं देवता का बन सकते हैं असुर का बन सकते हैं कोई भी आप योनि धारण कर सकते हैं अनेकों लोग बढ़िया बढ़िया ड्रेस जमा करते हैं जयललिता के पास कितनी साड़ियां थी है? एक बार कई इंक्वायरी इंक्वायरी हुई थी कोई पहुंचा था पांच हजार सारे और उससे मिलते जुलते डबल जूते थे अब यहां पे उनको तो पांच हजार साड़ियां पता नहीं नंबर भी कब आता हो गया है एक एक तो आ, साल में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं तीन सौ पैंसठ एक एक भी पहनेगी की एक दिन में साल में जो है वो तीन कितनी गणित ही नहीं चलती यार हमारी तो कब नंबर आएगा उस साड़ी का भगवान बोलते हैं यार कहा तुम ड्रेसें जमा कर रहे हो तुम्हारी इनमारी में पता कितनी योनिया है चौरासी लाख क्या जयललिता की पांच पांच हजार साड़ी देख के तुम्हारा मुंह खुल गया है हाँ? चौरासी लाख ड्रेसें हैं तुम्हारे पास और जैसा तुमको कर्म हो जैसी प्रेरणा हो वैसा तुम शरीर धारण कर सकते हो शरीर धारण करना ये एक चीज होती है भगवान अवतार में भी शरीर धारण करते हैं लेकिन शरीर धारण करा किसी एक्टर ने कोई रोल प्ले करा हमारे अमिताभ बच्चन हाँ, बढ़िया एक्टर कैसे कैसे रोल प्ले करें कहीं पे शहनशाह बने कहीं पे कुली बने एक जगह तो हिजड़े का ना, नाच कर रहे थे अब वो हर प्रकार की ड्रेसे पहनी उसने लेकिन अगर आप उनके जो भी शूटिंग चल रही है उसके बाद उनसे मिलो कोई किसी भी ड्रेस के साथ उसका अभिमान नहीं देता है भगवान कितने रोल यहाँ पे कितने अवतार ले चुके हैं दशावतारों में पूरे जो है कूर्म नरसिंह सब प्रकार के पूरा जैसे डार्विन का एवोल्यूशन की थ्योरी है ना पानी से लेके इंसान तक की सब योनिया सब अवतार ले चुके हैं लेकिन भगवान आज भी भगवान ही अपने आप को जानते जिस समय राम जी का अवतार चल रहा था उस समय एक बार शिव जी अगस्त मुनि जी के आश्रम से आ रहे थे सत्संग करके बढ़िया बढ़िया उपनिषद के दिव्य बातें सुन के तो आते हुए राम जी विरह लीला कर रहे थे उस समय विरह लीला कर रहे थे अब शिव जी को तो सब पता है ज्ञान क्या है ये कौन है किसको अवतार बोलते हैं किसको लीला बोलते हैं सब पता था तो भी उन्होंने हाथ जोड़े और जय सच्चिदानंद क्या हो महाराज जय हो जय हो उनकी लीला देख के बड़ा आनंद ले रहे थे लेकिन उमा जी को ज्ञान नहीं था ये सब उमा जी बोलती है महाराज जी ये पत्नी के लिए ऐसे रो रहा है विरह कर रहा है और आप जय सच्चिदानंद कर रहे हो हाँ। अब ठीक है पत्नी की देखभाल करनी चाहिए ये मगर ऐसे रो रहा है बिल्कुल ही वो अविवेक है उसको पता भी नहीं है किससे पूछना है फूल पत्तों से पूछ रहा है बेल बूतों से पूछ रहा है तुमने हमारी सीता को देखा है बोला कि बिल्कुल पागल सा दिखाई पड़ रहे हैं आप इनको जय सच्चिदानंद कर रहे तो उन्होंने बैठाया उनको बताया बोला कि देखो ऐसा ऐसा अवतार का रहस्य ऐसा होता है लेकिन इतना उनका ज्यादा मोह होता समझी नहीं बाद में जब नहीं समझी तो भगवान ने बोला जाओ मैं देख लो जाके तुम खुद ही परीक्षा ले लो तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने दिमाग में आइडिया लगाया कि चलो सीता जी का रूप धारण करके चलते हैं तो जहां देखेंगे हाँ सीते कहाँ थी इत्यादि वो बोलेंगे और पकड़े जाएंगे तो सीता जी का रूप धारण करके रोड से वो आ रहे थे दूसरे सामने सीता जी चली आ गई राम जी ने उनको देखा पास आए हाथ जोड़ के प्रणाम करा बोला माता जी अकेली कहा घूम रही है महादेव जी कहा है अरे उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई बोलती बंद हो गई कुछ बोल नहीं पाई सर झुका के सब ठीक है ठीक है खट से गए और जब भी शिव जी के पास शिव जी के पास जाके शिव जी ने बोला हाँ क्या हुआ परीक्षा ले आई अरे भरत जी आप जो बोले सभी सही बात टालने की कोशिश शिव जी ने बोले जब बता नहीं रही है कुछ गड़बड़ करके आई है ये और उन्होंने आंख बंद करके सब देखा बोला सीता बन के गई थी अरे ये बुद्धू ये नालायक मूर्ख ऐसा रूप धारण करा जो हमारी मां के तरीके से है आप इसी शरीर में हम कैसे अपनी पत्नी का भाव भी रख पाएंगे उसी दिन से उन्होंने संबंध त्याग दिया बोला कि हम इस शरीर में पत्नी की बुद्धि भी रख सकते हैं ऐसा जो है शरीर धारण करना एक चीज होती है चौरासी लाख योनियों में से हम सब लोग मनुष्य योनि धारण करे हुए हैं शरीर धारण करना एक चीज होती है लेकिन शरीर को वेश की तरीके से देखना दूसरी चीज हर व्यक्ति के अंदर जहां अज्ञान होता है अज्ञान के उपरांत दूसरा क्लेश होता है अस्मिता यही हम है अब आज कोई पूछता है भाई है, अपना परिचय दो बोलते हमारे जी पांच फीट ग्यारह इंच एक क्विंटल वजन ये हमारा घर ये हमारा कोल बोलते हैं तुम्हारे शरीर का हम नहीं पूछ रहे हैं ये तो हम ही ने बना के भेजा है शरीर का वेट और हाइट और रंग और रूप और आंख और जाति और घर ये थोड़ी है शरीर में आए कौन हो तुम कौन हो अपना परिचय दो महाराज जी वो तो सुना नहीं हमने हमको बताया नहीं किसी ने अभी हमारे कोर्स में नहीं हमारे कोर्स में नहीं <laughs> जब ऐसा कोई प्रश्न पूछता है ना तो बोलते हमारे कोर्स में नहीं हैं तुम्हारा परिचय पूछ रहे प्रभु हम कोई और दुनिया की चीज नहीं पूछ रहे हैं देखो कितनी विचित्र बात है हम लोगों का अज्ञान के उपरांत इसी वेश के साथ तादाद में करके एक पहचान बना ली है अस्मिता अस्मिता बोलते हैं अपनी पहचान वो पहचान जो मोहजनक है वो पहचान जो उपाधि के साथ तादात में करने के उपरांत बनाई गई है वो अस्मिता जो हमको एक छोटा सा जीव बना देती है हम लोग छोटे जीव है ना अरे महाराज जी छोटे इंसान है प्रभु आपके सेवक हैं तो ठीक है यार हमारे सेवक हो तो भी तुमको ऐसे शक्ल नीचे करके क्यों जीना है हमारे सेवक हो चिंता क्यों करते हो हनुमान जी कभी सर झुका के जीते थे महाराज जी आपकी सेवा की रावण भी डर गया था तुम किसके सेवक हो कौन तुमको बल देता है भगवान के सेवक भी हैं तो उसमें कोई चिंता कोई कमजोरी कोई असुरक्षा कोई दीनता ये पता क्यों होती है मन में डर चिंता सुरक्षा बल बुद्धि विद्या का जो जो विपरीत है सब आ जाता है ना केवल इसीलिए आता है क्योंकि अस्मिता हमारी मोह से युक्त है गलत है और ये भयंकर क्लेश का कारण होती है क्लेश नंबर टू हम्म, पहला क्लेश अविद्या दूसरा क्लेश अस्मिता गलत पहचान हम लोग की जो जो पहचाने हैं सब बड़ी सतही है अगर कोई हमसे पूछा तो स्वामी जी आपकी पहचान क्या है अब हम इस समय व्यासपीठ पे बैठे हुए आप लोगों को सुना रहे तो हमारी क्या इस समय पहचान क्या है कि हम गुरु जी गुरु जी हैं जो लोगों को शिक्षा दे रहे लेकिन हम ये बोले कि हम गुरु जी हैं सदैव गुरु जी हैं तो हमसे ज्यादा दुखी आदमी नहीं होगा अब बाजार पहुंच गए हम वहां पे सामान ले रहे हैं वो हमको गुरु जी समझ के देखेगा आ जाओ ग्राहक आ जाओ ग्राहक वो ग्राहक देखेगा हमको यार और हम गुरु जी आए हैं बोलते हैं गुरु जी अपने घर के अब गुरु जी जो है ना कहीं पर भी कोई चीज उठा खा लेंगे हम कहीं मिठाई की दुकान में जाए उठा खा ले निकालो पैसे निकालो एक बार तो बम्बई में हम लोग आश्रम था हमारे गुरु जी का पढ़ रहे थे तो मेडिकल होना था सब लोगों का थोड़े थोड़े दिन में वो चेकिंग करवा लेते थे वैसे ठीक ठाक है तो एक वहाँ रामकृष्ण मिशन का चैरिटेबल हॉस्पिटल था फ्री अस्पताल था तो हम लोग को भेजा जाता था जाओ चेक करवाओ तो लुंगी उंगी धारी थे और सब जो है बाल नारद जी की तरह साफ एंटीना रखा हुआ था ऊपर बढ़िया रूप था सब चार पांच लोग धना धन बड़े स्वाभिमानी ब्रह्मचारी लोग आए हैं तो वहां बस स्टेशन में जाते थे तो बस स्टैंड में बंबई में बड़ा डिसिप्लिन होता है सब लाइन से खड़े होते थे पास से आएंगे बिल्कुल लाइन से लोग चढ़ेंगे अब हम दन दन आते हुए आगे चले लाइन में आगे घुसते किसी ने पीछे बोले ओ बाबा इधर <laughs> घुसते जा रहे अब हम गुरु जी बन के जा रहे गुरु जी हैं हम लोग तो। किसी ने बोला अच्छा है बाबा जी लोग हैं गुरु जी जान अरे फोकट के इनका तो कोई काम नहीं पीछे जाओ तो पीछे से जाओ अगर कोई बड़ा गुरु बन के घूमे ना थोड़े दिन में अकल ठिकाने लग जाती है कहे कि गुरु गुरु केवल एक समय विशेष में हर समय कोई थोड़ी गुरु होता है आप पुत्र हैं अपने माता पिता के सामने जाओ तो पुत्र अपने संतान के सामने जाओ तो पुत्र थोड़ी उनके आप पिता माता हो जिसके सामने आप खड़े हो व्यवहारिक अस्मिता बदलती रहती हमारे कृष्ण भगवान जिस समय रथ हाँकते तो सारथी जिस समय गौ हाँकते हैं उनको चराते हैं तो ग्वाला जिस समय डिप्लोमेसी करते हैं तो फिर वो राजनेता कहीं पे द्वारकाधीश है कौन सा कर्म कर रहे हो व्यवहारिक अस्मिता उस पर आश्रित होती अस्मिता पकड़ मत लो अस्मिता जब उपाधि से लो परिस्थिति से लो तो वो क्लेशदायक अस्मिता अपने स्वरूप से लो तो मुक्तिदायक बल्कि आपके अंदर कोई छोटी अस्मिता होती ही नहीं है इतना बड़प्पन होता है जिस समय आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते नहीं पता है अपना परिचय और अपने शरीर अपने ही कुल अपने देश अपना धर्म ये बाहरी चीजें जो हैं टेम्परेरी चीजें इनसे पहचान उत्पन्न करो तो वो क्लेश नंबर टू होता है दूसरा क्लेश बड़ी पीड़ा देता है वो एक फौजी सज्जन थे बहुत सीनियर ऑफिसर जिस समय रिटायर हो जाते हैं ना तो फिर वो भी तब भी बाद में छोड़ते नहीं है नाम के आगे general brigadier so and so retired सेवानिवृत्त लिखते हो किसी के पास भी जाए ये बाकी तो वो छोड़ो एक बाबा जी हमारे साथ में थे सन्यास हो गया घर छोड़ दिया नौकरी छोड़ दी सब छोड़ दिया बाबा जी ने एक चीज नहीं छोड़ी डॉक्टर स्वामी सो है हाँ, बोला महाराज जी आज सब छोड़ के आ डॉक्टर आपकी ये उपाधि अभी तक नहीं छूटी बोलते हैं ना हाँ, देखो महाराज जी डॉक्टर रहना चाहिए कम से कम ये थोड़ी कोई भी सोचे अनपढ़ स्वामी है कोई पढ़े लिखे स्वामी है इतना संकेत करने के लिए डॉक्टर स्वामी सो अरे स्वामी अपने आप में पर्याप्त है महाराज बोलते नहीं नहीं यार पर्याप्त नहीं लोग हमको पता नहीं हेरा गहरा नथु गहरा समझते अनपढ़ समझते डॉक्टर समझते उपाधि छूटती नहीं है अगर हमारी अस्मिता किसी बाहरी उपाधि से प्राप्त होती है तो वो क्लेशदायक होता है इसीलिए पतंजलि महर्षि जी बोलते हैं अगर अपनी शरीर आदि से तुमने अस्मिता बनाई तो क्लेश तुम्हारे लिए कोई नहीं रोक सकता भैया द्वार खुल है ऐसे आदमी को अगर कोई इज्जत ना देना अनजाने में भी ना दे भयंकर पीड़ा होती है दक्ष प्रजापति जी के गुस्सा गाय के लिए थे महादेव जी उठे नहीं थे उनको प्रजापति का पद मिला सब लोग वहां पे आए सब खड़े हो गए महादेव जी अपने धुन में बैठे हुए थे नहीं खड़े हुए बोला दुश्मन नंबर वन खड़ा नहीं हुआ हमारी इज्जत नहीं करा समझ तक अपने आप को छोड़ेंगे नहीं हम इसको और बाद में जाके क्या कुछ करा उन्होंने घर में वो यज्ञ करा और उनको इनवाइट नहीं करा फिर पार्वती जी गई और वहां पे भस्मीभूत हो गई क्या से क्या हो बस शुरुआत क्या थी एक अपनी छोटी अस्मिता बनाओ अपेक्षाएं रखो अपेक्षा पूरी ना हो तो मुसीबत रखो अस्मिता ही क्लेश का कारण क्लेश नंबर टू क्लेश नंबर थ्री राग राग होता है जब आदमी छोटा होता है ना कमजोर होता है सुरक्षित होता है किसी न किसी बाहरी चीज को पकड़ के आश्रित हो जाना असक्त हो जाते आसक्ति जो है बहुत बड़ा राग बहुत बड़ा क्लेश का कारण है हमारे जो धृतराष्ट्र जी थे पूरी महाभारत की लड़ाई का के लिए हुई क्योंकि पुत्र के प्रति ऐसा भयंकर राग था उनके ये तो जो करे सब ठीक इसको हम नहीं देते कोई नहीं बात करते थे पूरा देश खत्म हो गया कुल खत्म हो गया एक आदमी की आसक्ति के वजह से अंधा हो जाता है इंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए बोलो श्याम चंद्र की जय हम लोग की गीता में लिखा है यज्ञात भगवती पर्जन्य जब यज्ञ अच्छा होना तो बारिश आती है देवता लोग खुश हो गए तो ये बात बड़ी बढ़िया है बड़ी काम की है बड़ी सत्य है कि जहां पर आदमी राग देखो प्रेम सबसे रखना चाहिए प्रेम जो है वो कल्याणकारी होता है राग विनाशकारी राग रख लोगे खुद भी नहीं बढ़ पाओगे और जिससे राग रखा है ना वो भी नहीं बढ़ पाता है अब बच्चे से प्रेम रखो तो उसका विकास होएगा राग रखो तो उसका विकास कुंठित हो जाएगा अब लड़का थोड़ी देर देर हो गई है चारों तरफ फोन चालू हो जाते हैं कहाँ गया कहाँ कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया एक्सीडेंट वो फोन भी नहीं लग रहा है सीधे अस्पताल में फोन होगा कोई फलानी मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की खबर है ये क्या डर चिंता असुरक्षा घबराहट सब दुनिया भर की चीज उसको निकलने नहीं देते घर से राग हो जाए अगर घर का तीरथ चल पाओगे महाराज जी घर कैसे छोड़ के बैठे रहो यार तुम कुंडली मार के घर के ऊपर राग हो जाए तो घर नहीं छोड़ सकते कोई नाता नहीं छोड़ सकते सत्संग में नहीं आ सकते कुछ नहीं हो सकता केवल राग अरे किसको नहीं होता यार जरूरी चीजें लेकिन राग ना हो तो रास्ता निकल आता है राग हो तो फंस जाओगे क्लेश होगा समस्या होगी एक के प्रति ही आश्रित हो जाना यही सुख देता है राग की समस्या होती है कि एक झूठा प्रेम होता है जब आपसे कोई आसक्ति रखता है ना तो झूठा होता है उसका प्रेम नकली होता है आपको निमित्त बना के वो चिंता अपनी करता है आपकी चिंता नहीं होती ये होता है राग है ये विकृति होती एक जगह कहीं पे कोई माता जी थी पास में रहती थी उनके तो उनके पति शांत हो गए बड़े अच्छे सज्जन आदमी थे सत्संग में आया करते थे सेवा करा करते थे तो मुझे कुछ रोग हो गया तो शांत हो गए वो अब घर में सब अंतिम कार्यक्रम चल रहा था तो हमने गए तो रो रही थी बहुत तो बहुत ही विलाप कर रही थी पति गए चले गए हैं तो हमने अपने अकल से सोचा कि बेचारी को लग रहा होगा कहाँ गए होंगे पति मरने के बाद कहाँ जाता है क्या सुखी होंगे दुखी होंगे तो अपने अनुमान से संभावित पीड़ा उनकी ये होगी कि पति कैसा होगा कहाँ गया होगा तो हमने सांत्वना दी बोला माता जी आपके पति बहुत धर्मात्मा थे पुण्यात्मा थे हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि वो स्वर्गवासी हुए जितना हमको जो शास्त्र का ज्ञान है प्रमाण हम देखते हैं हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तो स्वर्गवासी थे आप चिंता मत करें हाँ हमको पता है आदमी जब मर के जाता है तो कहीं पर भी आदमी मर के जाता है तो अज्ञान होता है कहाँ जा रहे हैं पता है लेकिन हम आश्वासन दे देते हैं तो मुड़ के हमसे क्या बोलती है बोलते हैं बाबा जी उनके लिए कौन रो रहा है अरे सॉ सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया भाई है? हाँ। और बोला फिर का के लिए रो रही हो माता जी बोलते अरे हमारा क्या होगा महाराज वो तो कहे फिर चालू हमने बोला यार गए हुए अभी उनको 24 घंटा नहीं हुआ और इस समय भी पत्नी है उसकी ये भी नहीं सोच रही है कहाँ गया होगा उनका पति अकेला गया है खाना भी नहीं लेके गया रास्ता भी नहीं पता है कहाँ जाएगा कैसे रहेगा कोई साथ नहीं कोई कुछ नहीं हम फोकट की कल्पना कर रहे हैं कि उसके बारे में सोच रही होगी फटा से हमारे मुंह पे उन्होंने दे मारा मारा कि उनका कौन सोच रहा है हमारा क्या होगा ये देखो हाँ, बोला हाँ ये भी बात सही है आपका क्या और ऐसी सेवा करती रहती थी ऐसा प्रेम जो आदमी दूसरे के लिए करे लेकिन दूसरे की कोई चिंता नहीं है हमारा क्या होगा बस ये सोच है ये राग होता है राग में ऊपर से कोई किसी को पकड़ा रहता है लेकिन आपकी कोई चिंता नहीं है उसकी चिंता होती है कमजोरी होती है वो इसीलिए जब तक राग रहता है प्रेम में भी डर लगा है क्या प्रेम है यार उसमें भी डरते रहते हैं निश्चिंत होके निडर होके प्रेम तक करना नहीं सीखा ऐसा आदमी को दुर्दशा हो जाती है राग प्रेम का ही आनंद लेना है ना तो राग किनारे करके निश्चिंत होके फिर आदमी को जीवन में प्रेमानंद भी प्राप्त होता है ये तीसरा क्लेश होता है चौथा क्लेश होता है द्वेष द्वेष जो है वो क्लेश का रहस्य न जानने के वजह से अपने दुख और पीड़ा का हेतु कोई दूसरा है कोई तो बाहर है इसे गुस्सा होते नर्मदा जी वो आ गया ना तुम्हारी तो शक्ल देख ली सवेरे तो हमारा दिन खराब ये फलाना हो गया तो दिन खराब ये हो गया तो हमको पीड़ा हो गई उसने ये कर दिया तो मुसीबत हो गई ये हो गया तो असफलता हो गई जब आपके सुख दुख का हेतु आपसे बाहर होता है और वो आपके लिए कोई अनुकूल नहीं हो प्रतिकूल हो तो उसके प्रति जो गुस्सा और कुंतक होती है उसको द्वेष द्वेष अज्ञान से होता है ना समझी होता तो बहुत पीड़ा देता है किसी को आप जो है ना द्वेष का विषय बना लो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप अपने अंदर अपने आप को डीप फ्राई करते रहोगे पकौड़ा बनाते रहोगे तलते रहोगे अपने आप को जलते रहोगे भूलते रहोगे मरते रहोगे क्योंकि द्वेष है उसका विचार आता है और मन के अंदर कूढ़न होती जाती गुस्सा होती जाती और अगर जगते जगते कुछ नहीं करते हो तो रात को सपने में चटनी बनाते हो ऐसा भयंकर द्वेष का परिणाम होता ठोकर में तो मरे जाते चौथा होता है द्वेष और पांचवा होता है अभिनिवेश अभिनिवेश तीव्र राग की अवस्था को बोलते हैं ऐसी भयंकर तादाद में कि वो उसका सुख हमारा सुख उसका दुख हमारा दुख हमारा अपना अस्तित्व ही खो जाता है आप कठपुतली की तरह नचाए जा सकते हैं तीव्र तादाद में कहीं कुछ हो गया तो हम तो मरने जा रहे हैं महाराज जी कहाँ पे वो चोटी वोटी कहाँ है पहाड़ पे जा रहे हैं पूछ जाएंगे महाराज अरे यार वो अपने कर्म से आया है सेवा करी चला गया तुम क्या मरे जा रहे हो मैंने हमारा तो जीवन भाई नहीं कर सकता है कुछ नहीं है खता हम्म। अभिनिवेश में किसी और के सुख दुख से हम मर जाते हैं जिसके अंदर अभिनिवेश होता है ना उसको कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है जो दूसरा करेगा उस हिसाब से इसको सुख दुख होता है ये क्लेशदायक है यार करना चाहो तो करो अविद्या रखना चाहे तो रखो तुम्हारी इच्छा है अस्मिता चाहो तो बनाए रखना चाहो तुम्हारी इच्छा है राग द्वेष अभिनिवेश ये सब तुमको भगवान ने टोटली फ्री करा हुआ है बोलते हैं हमारी सुपर बाजार है सुपर मार्केट है जो चाहिए ले लो जाके रहे हाँ? ये पांच क्लेशों की अलमारियां बाएं तरफ हैं और जो है ना धर्मात्मा और अच्छे गुणों की वो दाहिनी तरफ जो भी चाहिए लो लेकिन भुगतना सीखो और भोकट में हम पे मत आरोपण लगाना पहले क्लेश तुम खुद अपनी तरफ से लाए हो और उसके उपरांत तुमको पीड़ा मिल रही है तुम्हारा बल भी खत्म हो गया बुद्धि भी नहीं आ रही है और विद्या भी नहीं आ रही और प्रार्थना कर रहे हो बल बुद्धि विद्या दे वही बल कैसे दे यार क्लेश तो हटाओ जब तक क्लेश नहीं हटाओगे तो हम तुमको बल बुद्धि विद्या कैसे देंगे यही तो जड़ है तुम्हारी कमजोरी की इसीलिए चाह रखो इसकी प्रार्थना करो बहुत महत्वपूर्ण है अब हमने संक्षेप में सरल शब्दों में बताने की कोशिश करी कि पांच क्लेश क्या बोलते हैं हर व्यक्ति को जानना चाहिए मनन करना चाहिए और इनके उपरांत छह विकार होते हैं हरहु कलेश विकार ये विकार जो है ये सब लोग जानते हैं ये काम क्रोध तो लोभ मोह मद मात्सर यही छह क्लेश जो पीड़ा देते हैं जो क्लेश देते हैं एक छह विकार जो है ना शरीर के भी होते हैं अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति तो शरीर जो है ना जनता है बड़ा होता है ये इसको भी कई बार विकार बोलते हैं शरीर का बड़ा होना परिवर्तन होना बुढ़ापा आना फिर जाने जाना लेकिन जब आदमी अपनी ठीक अस्मिता नहीं रखे पहचान नहीं रखे तो उसके वैसे मन में क्लेश होते हैं वो जो विकार होते हैं वो काम क्रोध होते हैं और ये हम लोगों को कोई जानने की कोई ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत ही नहीं है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो छह होते हैं विकार गीता में भी और रामायण में भी दोनों में हमको ये बात बताई है कि भैया बाई द वे तुमको जीवन में कभी नरक का एड्रेस चाहिए हो तो वैसे तो हम उम्मीद करते हैं तुमको जाने का कोई विचार विचार नहीं है, है? लेकिन अगर तुमको कभी पता करना है कहा नरक कहाँ है और कैसा है हाँ, सब तुमको जानना है ज्ञान के लिए तो आवश्यक है जान लेना चाहिए स्वर्ग कैसा होता है पहुंच जाओ स्वर्ग तो क्या पहचान कैसे होगी स्वर्ग है नरक जाओ तो पहचान कैसे होती नरक और ये मत समझना ऊपर से फर्क होता है ऊपर से नरक और स्वर्ग पूरा एक जैसा होता है वहां के कमरे भी अच्छे होते हैं नरक का भी सब हाईटेक होता है काम हाँ। खाना पीना भी एक जैसा होता है एक ही रसोई से दोनों जगह खाने जाते हैं एक ही मेनू होता है लेकिन स्वर्ग में सब सुखी होते हैं नरक में सब दुखी एक बाबा जी तो बता रहे थे तो किसी ने पूछा महाराज जी स्वर्ग या नरक का कुछ बताओ क्या होता है स्वर्ग नरक बोलते चलो ले चलते हैं ऐसी क्या बात है तो बोला चलो महाराज जी चलो देखा जाए चलते तो भोजन का समय था भोजन का समय था तो वो पहले उनको नरक में ले गए बढ़िया खीर बनी हुई थी बढ़िया इतना बढ़िया था एक विशाल बर्तन रखा हुआ था भगोना हुआ और उसमें इतनी बढ़िया केसर वेसर युक्त बादाम युक्त मेवे पड़े हुए किशमिश पड़ी हुई ऐसी खीर बन रही थी और सब लोग वहां पंगत में बैठे हुए थे और जितने लोग थे गालियां देते थे सब दुखी थे उन्होंने करा क्या था उन्होंने ये करा था कि सब लोगों के हाथ जो है ना लकड़ी से बांध दिए थे जैसे हाथ वहां टूट जाता है ना तो स्प्लिंट बांध देते हैं लकड़ी बांध देते हैं कि अब मुड़े तो उन्होंने सबके हाथ जो है ना बांध दिए और खीर परोस रहे थे तो यार ये तुम का भी मुसीबत है ऐसी खीर परस रहे हो हाथ भी नहीं मोड़ सकते क्या ये तुमको दुखी करवाना है और भी अच्छे तरीके होते हैं तरसाने के और दुखी करने के भूख के मारे मरे जा रहे हैं परस भी रहे हो खा भी नहीं सकते और तड़प रहे हैं सब गालियों की गालियां गुस्से में किसने बनाया है कौन है तो उन्होंने उनको टूर करा रहे थे नरक टूर तो नरक टूर कर आया वाला देख लो जरा भाई स्वर्ग स्वर्ग में भी वही खीर बनी हुई थी वही किचन था वही भंडारा था वही हाथ भी बंधे हुए थे लेकिन हम कोई दुखी नहीं था सब सुखी कैसे सुखी थे पता है वहां दो लोग उन्होंने बोला यार कोई बात नहीं हमारा हाथ बंधा तुम्हारा हाथ बंधा ऐसा करो तू हमारे सामने बैठो हम यहाँ बैठते हम तुमको खिलाए तुम हमको खिलाओ रामचंद्र की जय स्वर्ग में आदमी की बुद्धि सुंदर होती है वहां सेवा की भावना होती है हम दूसरे को सुखी करें दूसरा हमको सुखी करता है किसी गृहस्थी के जीवन में भी ऐसे ही स्वर्ग बन जाता है ना किसी समाज में भी किसी देश में भी स्वर्ग ऐसे बन जाता है हम तुम्हारी सेवा करें तुम यहां दूसरों की सेवा करो हम अपनी चिंता न करें तुम अपनी चिंता न करो नरक में आदमी सब अपनी चिंता करते हैं और मरे जाते हैं हम्म? कुड़े जाते हैं दुखी होते रहते हैं तो अगर किसी को नरक का एड्रेस चाहिए तो गीता में भगवान बोलते हैं नरक से त्रिविधम द्वारम नाशनमात्म काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेक त्रयम त्यजे काम क्रोध लोभ रख लो अपने दिल में तो शीघ्र पहुंच जाओगे वहां पे कहा अरे वहीं जहां जाना चाहते तो। नरक और कहा यार <laughs> पहुंच जाओगे ये छह विकार ऐसे हैं काम क्रोध लोभ रखो शीघ्र तुम्हारे जीवन में नरक आएगा दुखी रहोगे कोड़ते रहोगे पीड़ा रहेगी इसी दुनिया में इसी शरीर इसी हाथ इन्हीं कमियों के साथ है? हाँ, हमारे अंदर अपनी कोई चिंता नहीं हमारी खुशियां हैं अपने परिवार के सज्जनों को सुखी करो अब माताएं खुद नहीं खाती बच्चों को खिलाती हैं उनको क्या दुखी होती हाँ, को खाना बचा है बोलते हैं सब सुखी रहते हैं ना सब खाते हैं बहुत अच्छा आनंद आता है तुम लोग सुखी रहो हम सुखी हो जाते हैं हम तो देवताओं का भोजन कर लेते हैं देवता लोग केवल देख के सूंघ के तृप्त हो जाते हैं ऐसे कोई दृष्टि हो वहां कौन दुखी हो लेकिन खुद चाहिए कामना है क्रोध है नहीं हुआ है वाँ वाँ वाँ। और जितना आ गया है और चाहिए और चाहिए और चाहिए इसको बोलते नो मद मतलब थोड़ा प्राप्त हो गया हवा में ऐसे हवा में अभिमान में कि जमीन में पैर नहीं पड़ रहे हैं जैसे अनेकों नेता होते हैं जिस समय आते हैं वोटिंग लेने के लिए दीनता के शिष्टाचार के विनम्रता की मूर्ति होते हैं और जहां जीत गए उसके बाद मद से युक्त होते हैं ऐसे नशे में चूर रहते हैं दर्शन भी दुर्लभ होते हैं मद में एक एक नशा सा हो जाता है अपनी कोई विशिष्टता का नशा हो जाता है मात्सर्य होते ईर्षा तुमको क्यों प्राप्त है हमको नहीं प्राप्त ठीक तुमको नहीं मिलना चाहिए दूसरे के सुख से फोकट में दुखी होते जाओ क्या बेवकूफी कीजिए तुमको भगवान ने सब दिया है हाँ। लेकिन पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आए अब मर यार तुमको अभी लाने की कम से कम एक महीने बाद लाते हाँ। एक महीने तक तो मजा ले लेते तुम्हारी गाड़ी बड़ी हमारी गाड़ी छोटी ईर्षा ईर्षा में दूसरे के कल्याण से हम दुखी होते रहते बड़ी बेवकूफी की चीज है जीवन को नरक बना देते मद मात्सर्य तो ये छह विकार भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारे पास ये छह विकार ना ये पांच क्लेश और छह विकार से हम मुक्त हो जाए भगवान सब दुनिया आशीर्वाद है कोई समस्या नहीं है ये हमारी दृष्टि ये हमारी अकल के दोष मन के विकार ये क्लेश और विकार हमारे जीवन को दुखी कर देते हैं और कमजोर बना देते हैं तो हे हनुमान जी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहनी हर कले बड़ा महत्वपूर्ण और सुंदर खूब मनन करिए इनके ऊपर जितना चिंतन करिए और आनंद आएगा तो ये इसके साथ हमारे ये दोहे का प्रसंग यहाँ समाप्त होता है और अगली बार से हम लोग हनुमान चालीसा की चौपाइयों में प्रवेश तो आज का यहाँ पे ही सत्संग समाप्त होता है दो मिनट भगवान का नाम लेते हैं फिर हम लोग सब लोग आरती करेंगे हनुमान जी की और सब प्रसाद लेते फिर जाएंगे श्री राम जय